जलना हाँ हाँ जलना जलने की जो औषधि है जैसे ही किसी वस्तु से आप जलते हैं आग से जलते हैं या किसी से भी तो सबसे पहले उस स्थान पर पानी डालना ठंड पानी एकदम ठंड पानी बहुत अच्छा फ्रिज का डालेंगे तो बहुत ही अच्छा तुरंत तो तो हाँ हाँ चलेगा जितनी जल्दी डाले उतना अच्छा और चूने का पानी और भी अच्छा चूने का पानी और भी अच्छा ठंड पानी से पहले डालिए फिर चूने के पानी और डालिए और अपने घर में जो आलू होता है ना बटाटा उसकी चटनी बना के तुरंत लगा लीजिए वहां हम्म, कच्चा बटाटा बटाटा पीसिए चटनी बनाइए और लगा लीजिए हैं नहीं नहीं बटाटे की चटनी का माने उसमें मिर्ची नहीं खाली बटाटा कच्चा कच्चा बटाटा ये बटाटा सबसे अच्छी औषध है जलने पर और चूने का पानी भी औषध है जलने पर तो आपका चूने की लेवड़ी चूना दोनों चूना लगाने में और भी अच्छा है चूना बहुत ठंडा करता है आग लगती है ना जलने के बाद तो चूना लगाएंगे तो बहुत ठंडा लगेगा और बटाटे का ये चटनी बना के कच्चा बटाटा काट के चटनी जैसा बना के लगाएंगे नहीं आंख में जलने पे तो नहीं लगाना है बाहर कहीं अंग पे लगाना है शरीर पे लगाना आंख तो नहीं जाती चूने से लेकिन आंख में जल होता है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आप अगर चाहें तो हड़द लगा सकते हैं जैसे आप बटाटा चटनी बनाते हैं ना ऐसे ही हड़द जो है ना पीस के ताजा हड़द रस उसका लगा सकते हैं बहुत जल्दी जख्म बढ़ेगा और झेंडू का फूल झेंडू के फूल की चटनी लगा सकते हैं और जल्दी बढ़ेगा और अच्छा होगा झेंडू का फूल फूल के गोमूत्र थोड़ा जलन करे वॉशरूम में तो तुरंत गोमूत्र मत लगाइए क्योंकि वो एसिडिक है और बाद में वो जलने का जो निशान है उसको खत्म करने के लिए खोपरे का तेल वो सबसे अच्छा है शुद्ध खोपरे का तेल ये जो बाजार में आता है पैराशूट नहीं पैराशूट खोपरे का तेल नहीं है हाँ ये जान लीजिए वो लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जो खोपरे के तेल जैसी खुशबू देता है वो खोपरे का तेल नहीं है हाँ जितने भी जितने भी खोपरे के तेल बाजार में मिलते हैं ना लिक्विड फॉर्म में एक भी खोपरे का तेल नहीं खोपरे का तेल तो जो आता है वो घट्ट होता है हम्म। ये जो है ना एकदम लिक्विड है खोपरा लिक्विड रहता ही नहीं है सिर्फ गर्मियों में रहता है बाकी दिनों में रह नहीं सकता तो ये सब क्या करते हैं कि लिक्विड पैराफिन एक केमिकल है उसकी खुशबू बिल्कुल खोपरे जैसी है तो उसी को बोतल में डाल डाल के खोपरे का तेल बोल के बेचते तो ये नहीं लगाना है खोपरे का असली तेल बाजार से लाइए खुला हुआ वो सही मिलेगा साठ सत्तर रुपए किलो वो आप लगाएंगे तो दाग संपूर्ण मिटेंगे वहां चलेगा बाल को लगाएंगे वही खोपरे का तेल खोपरे का तेल उस समय भी लगा सकते हैं और सपत उसकी हल्की हल्की मालिश करो जब जख्म भर जा तो उसका दाग सब मिटा देता है दाग कोई नहीं रहेगा अगर शुद्ध खोपरे का तेल है तो दाग बिल्कुल नहीं रहेगा और एक चीज है कि जल गया हो तो पपैया की चटनी भी लगा सकते हैं पपैया होता है कच्चा पपैया कच्चा पपैया दो तीन बार लगाए तो अच्छा कम से कम आठ दस दिन जब तक जख्म नहीं भरता आलू जो है ना तात्कालिक मदद करेगा जख्म नहीं भरेगा आलू जलना कम कर देगा तो जब जलना कम हो जाए तो आलू लगाना बंद कर दीजिए फिर जख्म भरने के लिए तो आपको झेंडू का फूल हड़द खोपरे का तेल ये सब ज्यादा है बिल्कुल जाता है बिल्कुल जाता है हाँ वो तो हो जाएगा आप कुछ नहीं करोगे तो लेकिन खोपरे के तेल से कितना भी जलने का दाग हो वो जाता है